लग रहा है इसको दौरा पड़ा है मिर्गी का दौरा जिस पुलिस वाले ने बासु को पकड़ रखा था उसने चिल्लाते हुए कहा परेशान मत हो एक मिनट अनुष्का ने तुरंत ही फर्स्ट एड किट में से एक सीरेंज निकालकर बड़ी सावधानी से सीरेंज में दवा भरने लगी सीरेंज में दवा भरकर उसने बड़ी सावधानी से बासु को इंजेक्शन भी लगा दिया जल्दी पी के साहब मेडिकल स्टाफ लेकर यहाँ पहुंच गए उन लोगों ने बासु को स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर एम्बुलेंस में रखकर तुरंत ही हॉस्पिटल के रवाना हो गए अनुष्का अब जाकर राहत की सांस लेते हुए अपने माथे पर आए हुए पसीने को पहुंचने लग गई फिर उसने बताया कि मिर्गी का दौरा था गजब है किसी ने इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं तैयार की आखिर इंटेरोगेशन के पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मुजरिम को क्या बीमारी है या नहीं अच्छा तो उसने अब तो सब कुछ बता दिया ना हर्षद ने सवाल किया जब मैंने उसे केस के बारे में पूरी बात बताई तब से वो मेंटली डिसेबल होने लगी थी लेकिन तब मुझे कुछ नहीं समझ आया फिर अचानक से बात करते करते उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर आकर गिर गई ये सब इतने अचानक से हुआ कि मैं खुद को समझ नहीं पाई इंजेक्शन दिया है अब जल्दी ही उसे आराम हो जाना चाहिए विक्रांत जी आप यहाँ है चौटाला साहब अपने खूबसूरत स्टूडेंट के साथ यहाँ पहुँच चुके थे चौटाला साहब के साथ आई हुई स्टूडेंट को देखकर हर्षित मन ही मन बेहद खुश होने लगा क्या हुआ एम्बुलेंस आ रही है चौटाला साहब ने बाहर एम्बुलेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा अब जाकर विक्रांत ने चौटाला साहब को सारी बात समझाई अब तो मर्डर केस सॉल्व हो चुका है अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है चौटाल ने कहा और रही बात ओल्ड लाइट हाउस केस की तो उसके लिए तुम्हारे पास काफी टाइम है मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है हो सकता है इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए इतना कहते हुए चौटाला साहब ने विक्रांत के हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया थैंक यू सर विक्रांत को तुरंत ही चौटाला साहब द्वारा भेजी गई फेक डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट याद आ गई सो तो उसने चौटाला साहब को थैंक यू बोलते हुए कहा अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो फिर अशोकन ने कुछ भी कन्फेस नहीं किया होता विक्रांत जी ये डॉक्यूमेंट भी अशोकन से ही रिलेटेड है लेकिन चौटाला साहब ने अपनी भुआएं सिकोड़ते हुए कहा लेकिन ये इन्फॉर्मेशन फेक रिपोर्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाली है विक्रांत ने उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उसे देखना शुरू कर दिया जब उसने इस रिपोर्ट को देखा तो वो बिल्कुल दंग रह गया वो नहीं बल्कि जिस किसी ने भी ये रिपोर्ट देखा सबके सब दंग रह गए आप श्योर हो कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है मतलब इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है विक्रांत ने सवाल किया प्रोफेसर चौटाला ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था इंस्पेक्टर अशोकन और नौशाद अली चचेरे भाई नहीं है बल्कि ये दोनों सगे भाई हैं भाई हर्ष ने चौंकते हुए कहा अगर ऐसा है कि अशोकन और नौशाद भाई भाई हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नौशाद अली का बाप और बासु विक्रांत ने अचानक से कुछ सोचते हुए कहा बासु लहरी और अशोकन मुझे भी ये समझने में काफी वक्त लगा था लेकिन जब मैंने डीएनए का पूरा रिपोर्ट देखा तो फिर मुझे समझ में आया प्रोफेसर चौटाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बासु जो है वो अशोकन की माँ है ये बात तो बिल्कुल सच है ये केस पिछले कई दशकों से कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसका मतलब बासु का नौशाद अली के फादर के साथ अफेयर था मुझे तो लाइट हाउस के गार्ड के ऊपर दया आ रही है अनुष्का ने कहा अशोकन ने अपने कन्फेशन में बताया कि वजाहत अली की मौत के बाद वजाहत अली की फैमिली ने आगे आकर बासु को परेशान करना शुरू कर दिया था वो लोग परेशान करने के लिए लाइट हाउस तक आ चुके थे शायद वही वो टाइम था जब कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ था हर्ष ने कहा वजाहत अली को मौत की सजा दी गई थी क्योंकि उसके ऊपर बासु लहरी का रेप करने का आरोप लगा था क्या ऐसी सिचुएशन में भी वजाहत की फैमिली बासु के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच सकती थी क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बासु ने अगर फिर से कुछ कंप्लेंट कर दिया तो फिर वजाहत की फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती हो सकता है कि वहाँ कुछ और हुआ हो विक्रांत ने कुछ पल सोचते हुए कहा जैसे हो सकता है कि वजाहत अली अपने भाई की वाइफ के साथ सोया रहा हो या फिर ये भी हो सकता है कि नौशाद अली वजाहत अली का ही बेटा हो और इंस्पेक्टर अशोकन के भी बाप का नाम वजाहत अली हो क्या क्या कह रहे हैं आप मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये वजाहत अली बहुत कमीना आदमी था साले ने अपने भाई की वाइफ को भी नहीं छोड़ा उससे भी बच्चे पैदा कर डाले थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है वजाहत अली और नौशाद अली का असली बाप अब जिंदा नहीं है तो हमें उन दोनों का डीएनए डेटा नहीं मिल सकता प्रोफेसर चौटाला साहब ने कहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्टोरी पॉसिबल हो सकती है हर्षित ने अपनी नजर चौटाला साहब के साथ आई हुई बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ करते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन की बर्थ डेट सेम उस टाइम पीरियड से मैच करती है जब बासु लहरी के साथ वजाहत अली ने रेप किया था लेकिन अगर इसके बाद नौशाद अली का असली बाप भी वहाँ बीच पर गया रहा हो तो ये भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन मुझे पहली पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है अनुष्का ने फिर कहा पहले मैं लाइट हाउस मर्डर केस पर काम कर चुकी हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आया है मुझे लगता है कि नौशाद अली वजाहत अली का बेटा नहीं है पहली बात तो वजाहत अली खुद मछली पकड़ने का काम करता था वो दूसरों की बोट पर काम करता था जबकि नौशाद अली के घर वाले मछली को बेचने का काम करते थे वो लोग ज़्यादातर टाइम घर पर ही रहते थे ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वजाहत अली के पास इतना वक्त रहा होगा कि वो अपने भाई की वाइफ के साथ रिलेशन बना सके अनुष्का ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा दूसरी चीज नौशाद अली का बाप अपने भाइयों में सबसे बड़ा था जबकि वजाहत अली चौथे नंबर पर था उन दोनों के बीच तेरह साल का अंतर था नौशाद अली की माँ भी उसके बाप के बराबर एज की थी कहने का मतलब ये है कि नौशाद अली की माँ वजाहत अली से उम्र में तेरह साल बड़ी थी फिर अनुष्का ने आगे कहा तीसरी बात आप लोगों ने नौशाद अली की माँ को देखा है पता है वो कैसी दिखती थी <laughs> अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है हर्ष ने अनुष्का को बीच में ही टोकते हुए कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती थी इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि वजहत के बड़े भाई की वाइफ ने ही उसे उकसाने की कोशिश की हो वजहत उस टाइम काफी स्मार्ट और हैंडसम हुआ करता था सो क्या तुम्हें बड़ा पता है इन सब चीजों के बारे में अनुष्का ने भी हर्ष को चिढ़ाते हुए कहा लग रहा है तुमने भी इस तरह के काम बहुत किए हैं इसलिए तुम्हें सब एक्सपीरियंस है तुम हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा हम्म विक्रांत ने उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहा अच्छा ये पॉसिबल हो सकता है क्या नौशाद अली के बाप का बासु लहरी के साथ कोई अफेयर रहा हो हो सकता है कि वजाहत पहले एक्सीडेंट के पहले से ही बासु और उसका अफेयर रहा हो